सितारे समंदर और ये पहाड़ और ये सारे दरख्त और जो जमीन में जितनी मखलूक़ात है छोटी हो या बड़ी हो जो नज़र आती है जो नज़र नहीं आती ऐसे ही जमीन के नीचे जितने मखलूक़ात है अल्लाह रबुल्जत ने सात आसमान और सात जमीन अपने कुदरत से बनाई पहली जमीन दूसरी जमीन तीसरी जमीन चौथी पांचवी छठी सातवीं जमीन ऐसे ही सात आसमान अल्लाह ने अपने कुदरत से बनाए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आसमान मतलब दोस्तों बुजुर्गो हमारे सामने तो सिर्फ ये दुनिया और दुनिया की चीजें जो हमें नजर आती है वो भी कुछ नजर आती है ये सारी मखलूफात मर्ज अल्लाह ने गले चढ़ा अल्लाह वहदहू ला शरीक है उसके साथ कोई शरीक नहीं शादी नहीं ये सारी चीजें अल्लाह ने अपने कुल से उसको जो है वजूद फरमाया अल्लाह रबुल्जत ने फरमाया हो जा ये सारी चीजें मौजूद हो गए ये आसमान पहले नहीं थे सूरज और चांद पहले नहीं था और जिस तरीके की जमीनें और ये दरख और ये इंसान ये हैवानात नबातात जमादात इन मखलूक़ात में पहले कुछ भी नहीं था मौल अल्लाह ने अपने कुदरत से सबको वजूद बख्शा ये बड़े बड़े आसमान अल्लाह ने बनाए ये पहला आसमान इसके मुकाबले में जमीन इतनी छोटी है कि बहुत बड़ा जंगल हो उसके अंदर उस जंगल के अंदर एक छोटा सा कंकड़ डाल दिया जाए तो उसके मुकाबले में जो है ये आदमी सोचे तो कितना पूरे दुनिया के मुकाबले में एक छोटा सा खंडर है ऐसे ही जो है ये जमीन पहले आसमान के मुकाबले में कितनी छोटी और इसी तरीके से पहला आसमान दूसरे आसमान के मुकाबले में इतना छोटा है इतना दूसरा तीसरी आसमान के मुकाबले में चौथे के मुकाबले में ऐसे सातों आसमान के मुकाबले में मकमलों को तो बुजुर्गों ये दुनिया और ये आसमान निकट होते हैं फिर उस पर अल्लाह तबार मताला का अर्श है अल्लाह का अर्श जो है वसेगा कुर्सी यूज समावाद वाला उस अर्श पर अल्लाह की कुर्सी है जो आसमान और जमीन को इहाते में ली हुई ये सारे के सारे आसमान और ये जमीने मर्द थी कि अल्लाह तबार मताला ने अपने कुदरत से बनाई और फरिश्ते अल्लाह ने अपने कुदरत से बनाया अभी हम जो बैठे हैं हम कभी सिर्फ तो इंसान नहीं बैठे ये हमारे चारों तरफ हमारे सामने अल्लाह के फरिश्ते मौजूद है ये हमारा यकीन है हमारा ईमान है ये ईमान बिल्ला अल्लाह के साथ पर ईमान अल्लाह रबुल्जत के सिफात पर ईमान अल्लाह तबार मताला के फरिश्तों पर ईमान अल्लाह इज्जत ने इस दुनिया में इंसान को बनाया पैदा किया तो जिंदगी कैसे गुजारे जिंदगी का क्या मकसद है दुनिया में इंसान अपने इख्तियार से नहीं आया अल्लाह ने उसको वजूद बख्शा पैदा किया तो उसका वजूद हुआ और जब तक इंसान चाहेगा तब तक दुनिया में नहीं रहेगा इसके इंसान के इख्तियार में न जिंदगी है न मौत है अल्लाह का अमर होगा हुक्म होगा इंसान दुनिया से मुख्त हो जाएगा जिंदगी मौत अल्लाह तबारक मसाला ने क्यों अदा फरमाई ये हमारी तो सात सत्तर साल की जिंदगी है हमसे तो पहले जो उम्रें गुजरी है उनकी जो है तीन सौ साल पाँच सौ साल सात सौ साल साढ़े नौ सौ साल नौ तो सलाम की उम्र की कुरान में अल्लाह ने बताई है फरमाए तबलीग की उम्र है इस उम्र की उम्र अल्लाह तबारक मसाला ने बहुत छोटी बनाई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी उम्मत की उम्र 60 70 साल के बीच की हो अब कहे आखिरत का एक दिन पचास हजार साल के बराबर होगा इसी वजह दुनिया में आना ऑफिस है इंसान खाए पिए कमाए तो इंसान की जरूरत है अल्लाह ने बचत बनाया परीक्षा तो बनाया नहीं लेकिन खाना पीना कमाना और दुनिया के अखबार की अख्तियार करना ये जरूर जरूरियाती जिंदगी है वक्त की जिंदगी नहीं है जिंदगी अल्लाह तबारक इंसान जो बनाई है तो मरने के बाद दोबारा जिंदगी आने वाली है और तो इधर आने वाली इस अल्लाह ने जिंदगी बख्शी आदम से वजूद बख्शा पहले हम कुछ भी नहीं थे अगर मेरी उम्र पचास साल साठ साल सत्तर साल की है तो साठ साल पचास साल से पहले में कहा था आबरी तस्वीरा में नहीं था अब्दुल्ला अब्दुल रहमान अभी मेरा नाम है लेकिन पचास साल पहले कोई कोई मेरा तस्वीरा नहीं था هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا क्या इंसान पर जमाना नहीं गुजरा कि वो उसको कोई याद करने वाला नहीं था कोई तस्करा करने वाला नहीं था अल्लाह रसूल फरमाते इन्ना खलकना इंसान में नुक्फत अमजाज नबतली हमने इंसान को पैदा किया इंसान अपने अख्तियार से नहीं आया ये अल्लाह ने अपने कुदरत से इंसान को वजूद बख्शा और क्यों पैदा किया और नुतफे अमशाज मखलूक नुस्खे से अल्लाह ने यह इंसान को बनाया इस मकसद को बतलाने के लिए अल्लाह तबारक मतला ने रसूलों को भेजे हर जमाने में अम्बिया सलाम को अल्लाह तबारक ने दुनिया में भेजा ये तुम्हारा जिंदगी का क्या मकसद है हमने तुमको बेकार पैदा नहीं किया कि तुम खाओ पियो और जो है बस दुनिया में जिंदगी में आयश करो और मौत का वक्त आया मर जाओ ये तुम्हारा जिंदगी का मकसद नहीं है अल्लाह ने तमाम मखलूक में तुम्हें मुकर्रम मुआवज बनाया तुम्हें अल्लाह तबारक ने इज्जत बख्शी है तमाम मखलूक को अल्लाह ने तुम्हारा खादिम बनाया और तुमको अल्लाह रबुल इज्जत ने जो है मखसूम बनाया ये सूरज तुम्हारी खिदमत में चांद तुम्हारी खिदमत के लिए हवाएं तुम्हारी खिदमत के लिए ये पानी अल्लाह ने तुम्हारी नफा के लिए बनाया जो कुछ जमीन में बनाया अल्लाह ने तुम्हारे इंसान के लिए बनाया वो लगी अल्लाह खला तुम माफिल और जमिया जो कुछ अल्लाह ने जमीन में बनाया ये इंसान जो असल है उसके लिए अल्लाह तबारक है उसके नफा के लिए अल्लाह ने सारी चीजें बनाई وسخر لكم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار अल्लाह को फरमाते हैं सूरज और चांद को अल्लाह ने तुम्हारे लिए ताबे कर दिया मुसखर किया रात दिन अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाए दिन अल्लाह प्रभुल ने उसको रोशन वाला बनाया ताकि तुम इसके जरिए से इस दिन के अंदर मेहनत करके अपनी रोजी कमाओ बनाना तुम्हारा पकाना है तुम्हारे राहत के लिए बनाई इंसान को अल्लाह ने पैदा फरमाया और पैदा होने के बाद में इंसान की क्या जरूरतें हैं सारी जरूरतों का अल्लाह ने मां के पेट में ही निजाम फरमाया अल्लाह रबुल्जत को मालूम है कि मेरे बंदे को दुनिया में जा, जाने के बाद में देखने की जरूरत होगी सुनने की जरूरत होगी बोलने की जरूरत होगी और ये मेरे बंदे को जो है हाथ की पैरों की जरूरत पड़ेगी तो अल्लाह ने अपने कुदरत से सारे आजा माँ के पेट में फिट की हम तो जानते भी नहीं थे ये अल्लाह तबारक ने हमारी जरूरतों का इंतजाम पहले ही फरमाया अल्लाह अखरजकुम मिन बुतून उम्माहातिकुम ला तअलमून शैया वजअल लकुम السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون अल्लाह ने तबार अल्लाह तबार तला ने देखने के लिए तुम्हारी आंखें बनाई माँ के पास पेट में जो है छोटी छोटी आंखें छोटे छोटे कान और दिल दिमाग और अल्लाह तबार तला ने ये सारी जरूरत की चीजें माँ के पेट पर लाने अपने कुदरत से बनाई अंधेरी कोठरी में बनाई और तीन तीन अंधेरियों में अपने कुदरत से बनाई हम अपने खिदमत के बारे में सोचे ताकि इसके जरिए हम अल्लाह को पहचाने और हमारा जिंदगी का मकसद ही अल्लाह रबुल्जत को पहचानना अपने खालिद मालिक को पहचाने जिसने हमको पैदा किया है किस मकसद के लिए पैदा किया मकसद दोस्तों बुजुर्गो वमा से कुरान ने साफ कह दिया तुम्हारा जिंदगी का मकसद सिर्फ सिर्फ यह है कि तुम मुझे पहचान कर जिंदगी गुजारो लिया बोलो तो नहीं लिया रिपोर्ट इसलिए अल्लाह तुम्हारा ताला ने तीन तीन अंधेरे में जब इंसान को माँ के पेट को अपने कुदरत से बनाया कि माँ के पेट की अंधेरी और फिर राहुल मादर की अंधेरी फिर उस पर चिल्ली उसकी अंधेरी फिर जुर्मा की सलाह ये तुम्हारा रब है तुम उसके हिसाब से का जिंदगी गुजारो उसको पहचानो दुनिया में इंसान को मेरी पैसे करता है तो उसके लिए वसी मैदान चाहिए और उसके लिए रोशनी चाहिए लेकिन अल्लाह सवार फकरान की कुदरत से तन जगह में और अंधेरे में जो इंसान को पैदा किया और इंसान की सारी जरूरतों का इंतजाम फरमाया और दुनिया में आने के बाद इंसान को जो है मालूम होता है कि ये आंख की क्या कदर है जिसके पास आंख नहीं है उसको पूछो आंख कितनी अल्लाह की बड़ी नियामत है कान अल्लाह तबारा की सुनने की ताकत अल्लाह की कितनी बड़ी नियामत है बोलने की ताकत अल्लाह तबारक ने अता फरमाई ये कितनी बड़ी नियामत है ये सारी नियामतें अल्लाह तबारक ने दुनिया में आने से पहले उसका इंतजाम फरमा दिया ताकि दुनिया में आने के बाद में हम अपने अल्लाह को पहचान कर जिंदगी गुजारे उसकी हिताब के साथ में जिंदगी गुजारे छोटी सी जिंदगी अल्लाह तबारक फताल ने बनाई है ये अल्लाह तबारक फताला चाहते हैं कि मेरे बंदे ये कामयाब हो जाए तो दुनिया की जिंदगी के अंदर भी कामयाब हो जाए और इसके बाद में जो हकीकी जो जिंदगी आने वाली है मरने के बाद की जिंदगी जो हमें नजर नहीं आती आखिरत की जिंदगी उस जिंदगी के अंदर कबर की जिंदगी में हशर की जिंदगी में आखिरत की जिंदगी में तो हमेशा हमेशा की जिंदगी है आखिरत की जिंदगी तो असली जिंदगी जो हमें नजर नहीं आती ये सारे मंजिलों में से हमें पार होना है ये अल्लाह ने इंसान की तरक्की बनाई आज के वक्त में सारे रूहों को अल्लाह ने अपने कुदरत से जमा फरमाया आदम सलाम से लेकर हयामत तक जितने इंसान दुनिया में आएंगे जितनी रूहें ये सारे रूहों को अल्लाह तबारक ताला ने आलम अरवान में जमा फरमा कर अल्लाह ने एक अहद लिया और अल्लाह रबुल्जत ने पूछा अलग तुम रबे को क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं तुम्हारा पालनहार नहीं हूं रब कहते हैं जितनी इंसान की जरूरियात है उन सारी जरूरियात का इंतजाम करने वाला इसकी इंसान की जो भी जरूरत है खाने की पीने की सोने की हवा की पानी की और जितनी बचे जितनी जरूरत है सारी जरूरतों का इंतजाम करने वाला उसको रब कहते हैं तो चूंकि उस वक्त हमारे सामने दुनिया के अखबार नहीं थे दुकानें नहीं थी खेत नहीं थे हुकूमत नहीं थी सोना चांदी नहीं थे ये दुनिया की चीजें असबाब नहीं थे तो सबने कह दिया कि बेशक आप हमारे रब हैं फिर अल्लाह तबार पता ने इम्तिहान के दुनिया में भेजा और इस दुनिया में अल्लाह तबार पता ने हमारे सामने अफवाह फैला दिए किसी के सामने दुकान है किसी किसी जो है सामने खेतिया है और किसी के सामने मुलाजमत है और दुनिया के मुख्तलिफ शौकों में इंसान जिंदगी गुजारता है ये असबाब है दोस्तों मतलब बुजुर्गों इन असबाब को इंसान को इख्तियार करना है अब इंसान को जब भूख लगेगी तो उसको खाने का उसको इंतजाम करना है अल्लाह ने दुनिया को दरों रसवा बनाया अब उसको जो खाने का इंतजाम करना है खाना खाएगा तो उसकी भूख खत्म होगी पानी पिएगा तो उसकी प्यास खत्म होगी वतनदोस्त बुजुर्ग हो लेकिन उस पर यकीन नहीं करना इसबाब को इख्तियार करना है ये इसबाब हमारे इम्तिहान के लिए तो फरमाते हैं नबतली जानना और सभी हम बसीरा ये अल्लाह ने इंसान को जो बनाया ये इम्तिहान आजमाइश के लिए बनाया कि आया इन इसबाब में रहते हुए उसका यकीन इसबाब पर है या रब्बुल इसबाब पर है अल्लाह के साथ पर यकीन है या इन चीजों पर यकीन है अपनी दुकानों पर यकीन है ये अल्लाह के जात पर यकीन है अपने खेतों पर यकीन है ये अल्लाह के जात पर यकीन है अपने अखबार पर यकीन है ये अल्लाह के जात पर यकीन है बस दो बुजुर्गो ये अल्लाह का आजमाना चाहते हैं और इस बात को समझाने के लिए क्या इंसान को अल्लाह ने दुनिया में इम्तिहान के लिए पैदा किया है ये अल्लाह रबुल्ला चाहते हैं कि बंदा इन असबाब में रहते हुए अपने खालिक और मालिक को पहचाने असल अल्लाह रबुल्जत की जात है करने करने वाली जात सिर्फ अल्लाह है उसी के कब्जे कुदरत में सारी चीजें हैं ये सारे असबाब का मोहताज है ये अपने वजूद में अल्लाह के हुक्म के मोहताज ये अपने तासीर दिखाने में अल्लाह के हुक्म के मोहताज अपने पाक के रहने में अपने खत्म होने में अल्लाह के अमर की मोहताज हर चीज में ये अल्लाह तबारक वाली के मोहताज और अल्लाह इज्जत इन सब चीजों का खालिक और मालिक है ये अल्लाह इज्जत इन सब के बगैर सब कुछ करने में काफी है ये सारे असबाब मिलकर अल्लाह के बगैर कुछ नहीं कर सकते और अल्लाह रबुल इज्जत सब कुछ के बगैर सब कुछ हंडे पर खाली है ये पसंद हो तो बुजुर्ग हो ये ईमान है जो हमने कलमा लाया है अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि जो कलमा पढ़ा है और अल्लाह ने हमें ईमान दिया है कि मखलूक से यकीन हटकर अल्लाह के साथ पर यकीन आ गया नफा नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह रबुल इज्जत है नफा नुकसान इन चीजों में नहीं है मौत तो और हयात सिर्फ अल्लाह तबारक ताला के कब्जे कुदरत में है कामयाबी नाकामी अल्लाह तबारक ताला के कब्जे कुदरत में है ये हमारा इज्तम का मकसद यही है कि हमारा दिल का यकीन आज इस असबाब में रहते रहते ये असबाब से होने का यकीन दिल में आ गया और रबुल असबाब को हम भूल गए और उसके अहकाम को हम भूल गए असबाब को चीजों को हम असल समझने लगे और उसी में रहकर जो है उसी के नफा नुकसान का यकीन हमारे दिल में आ गया कि दावत और तबले के मेहनत के जरिए से इस दिल के यकीन को जो बिगड़ा हुआ है ला इला सबसे पहले इन असबाब से हमें का यकीन दिलों से निकालना है इल्लाह सिर्फ करने वाली साहब एक ही अल्लाह है उसके साथ कोई शरीर नहीं उसका कोई साथी नहीं उसका कोई हमसर नहीं उसका कोई विशाल नहीं ला नित्र लहो वला शरीक लहो वाला मित्र लहो वाला मिसाल ला अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू के साथ आगे से उन्हें का यकीन दिलों की गहराई में उतर गया वतन दोस्तों बुजुर्गो हमारे आका ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक ने दुनिया में मबूस फरमाया इंसानों के हिदायत के लिए हर जमाने में अल्लाह ने नबी को जो भेजा तो मैंने शुरू में कहा था कि अल्लाह के नबियों पर ईमान लाना अल्लाह ने आदम सलाम से लेकर हमारे आकाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु रसोल्लाम तक जो है नबी को दुनिया में भेजकर यही अल्लाह तबारक व तआला को पहचानो इस मेहनत के लिए यह मबूल फरमाया वही मिन मिकुम्मत इल्ला खलाफिया नजीर कोई उम्मत ऐसी नहीं गुजरे कि जिसमें डराने वाला नबी न भेजा नबी बशीर होते थे और नजीर होते थे रसुल्लाम बशीर भी है नजीर भी है तो उस अल्लाह तबारक वाली के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो अल्लाह तबारक वाली दुनिया के मंजिल में भी तुम्हें कामयाब करेगा और कब्र के मंजिल में भी कामयाब करेगा अजर के मंजिल में भी कामयाब करेगा और मरने के बाद जितनी मंजिलें जो आने वाली है सारी मंजिलों में तुम कामयाब होते चले जाओ अगर अल्लाह के नापरमानी के साथ जिंदगी गुजारी अपने मनमानी जिंदगी गुजारी और अल्लाह के बंदे बनकर जिंदगी नहीं गुजारी इस सलमे में हमने जिस बात का इकरार किया है कि परोजगार हम तेरे बंदे हैं तो हमारा मामूद है ला इबादत के काबिल अल्लाह के अलावा कोई जात नहीं नकाम अफसान का मालिक सिर्फ अल्लाह रबुल इज्जत है वो तो हयात उसी के कब्जे कुदरत में है और दुनिया की सारी चीजें उस अल्लाह के मोहताज है सारे नबी ने आकर के वक्त दोस्तों को इस बात की दावत दी लेकिन चूंकि दुनिया नजर आती है चीजें नजर आती है इसलिए इसका यकीन चीजों पर है इब्राहिम इस्लाम को अल्लाह ने भेजा अभी तो ने यही समझाया नमरूद बादशाह जो खुदाई का दावा करने वाला था और अल्लाह ने सारी दुनिया का उसको बादशाह बनाया था दुनिया में चार बादशाह गुजरे जिन्होंने पूरी दुनिया को सल्तनत की सिर्फ एक खंड पर नहीं एशिया अमेरिका अफ्रीका यूरोप और सातों खंडों पर जिनकी हुकूमत है और उसका ये दावा था कि मैं तुम्हारा रब हूं इब्राहिम ने कहा कि हमारा रब तो वो है जो जिंदा करता है मारता है रफियल लगी यही वही मेरा रब वो है जो इंसान को जिंदा करता है जिंदगी देता है फिर मौत भी वो रब देता है तो नमरूद उसे पूरी दुनिया का बादशाह था तो हुकूमत का नशा था कि मैं हुकूमत मेरे पास में है मैं जिसको चाहूं इसके हिसाब से जो चाहे करूं जिसको चाहूं जिंदा रखो जिसको चाहूं मारो जब इब्राहिम मिश्रा को सलाम ने उसको समझाया रब तो वो है जो मुही मुमीत है तो उसने एक शख्स को बुलाया और उसको कत्ल कर दिया और एक शख्स को बुलाकर उसको छोड़ दिया देखो मैंने भी जिंदा किया मैंने भी मारा हालांकि उसको जो है जिंदा करना मारना नहीं कहते इब्राहिम सलाम ने जो है इंसान में जो है जवाब इंसान में जो तो बात कि मेरा रब वो है जो सूरज को मशरक से निकालता है और मगरब में गुरूब करता है अगर तो खुदाई का दावा करता है तो सूरज को मगरब से निकाल और मशरक में जो गुरूब कर और तो वो हिटल जैसे का फर्क वो बेईमान से मजबूत हो गया किसी इंसान के अख्तियार में नहीं वसंत साहब तो बुजुर्ग हो इसलिए पूरी दुनिया में जो भाषा थी वो चार भाषा जो मैंने कहे तो ईमान वाले फिल्मान सलाम इनकी हुकूमत पूरी दुनिया पर थी भाषा पूरी दुनिया पर थी इंसान ऊपर जिन्नात ऊपर परिंद ऊपर दरिंद ऊपर सब पर भाषा थी हवाओं पर भी इनकी हुकूमत थी अल्लाह तबारक वाली ने उनको तख्ते सुलेमानी अता फरमाया था और एक रिवायत के अतबार से तख्ते सुलेमानी में छह हजार सीटें थी ऐसा कोई नमूडेड है कि जिसमें छह हजार सीटें हों अल्लाह इज्जत ने सलमान सलाम को जो है ऐसा तख्त हवाई तख्त अता फरमाया था उर्दू हुआ शहर मरवा हुआ शहर एक सुबह शाम एक महीने की मसाफत को तय कर लेता था ये मखलूक की ताकत अल्लाह ने अता फरमाई फरिश्ते भी मखलूक अंबिया भी मखलूक और दुनिया में जितनी चीजें सारे के सारे मखलूक है और सारे की सारी चीजें छोटी है अल्लाह अकबर अल्लाह की साथ बड़ी अल्लाह तबारक ताला ने बड़े बड़े फरिश्ते बनाए जिब्राइल मिकाईल इसराफील इसराइल अलैहि सलाम जिब्रेल सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा फरिश्ता बनाया है कि जिनका सर अर्श मोहल्ला पर है और जिनके पेट तहकुश सलाम है और छह सौ बारसो अल्लाह ने अता फरमाए एक पर खोलते दे मशरक मगरब को ढांक दे ये ताकत अल्लाह करण अता फरमाई लूट अली सलाम के कौम जब लूट अली सलाम ने उनको समझाया या कौम अबूदुल्लाह मालकुम लिल्लाहि गैरु ये मेरे बहुत मुसल्ला की बंदगी करो इससे अलावा कोई इबादत के काबिल नहीं नबी समझाते रहे ये अल्लाह पता रहमान रहीम है इंसानों को समझाने के लिए अल्लाह ने नबी को भेजा इसलिए कि अल्लाह रबुल्जत गैब में है हम अल्लाह को देख नहीं सकते हमारा मामूल हाजिर नहीं है हमारा मामूल गैब में है उनकी निशानियां हैं ये आसमान अल्लाह को पहचानने की निशानी है ये सूरज चांद अल्लाह को पहचानने की निशानियां हैं लेकिन ये सारे मखलूक है सूरज भी मखलूक है अल्लाह ने उसको पैदा किया तो उसका वजूद हुआ अब मखलूक इबादत के काबिल नहीं है इबादत के काबिल सिर्फ अल्लाह की बात है सूरज जब निकलता है तो अल्लाह रबुल्जत के अर्श के सामने सज्जा रेज होता है और अल्लाह से इजाजत चाहता है अल्लाह को तो फरमाते हैं मशरक से निकल तो सूरज मशरक से निकलता है मगरब में गुरु होता है और कयामत के करीब सूरज मगरब से निकलेगा मशरक में जो है गुरु होगा अल्लाह के हुक्म के काबिल ये कयामत आने वाली है आसमान और जमीन को तोड़ फोड़ कर ला तबाह कर खत्म करवा देंगे ये सारी चीजें अल्लाह ने जो बुजुर्ग बख्शी है बकर दो सौ दो सौ ये सारी की सारी चीजें खत्म होने वाली बाकी रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह की जात है माइल जन पर अल्लाह तुम्हारे पास में जो कुछ है वो सब खत्म हो जाएगा तो बादशाह है आज के जमाने में एक वक्त जो उसके बादशाह खत्म हो जाएगी जो वजीर है उसकी वजारत खत्म हो जाएगी और दुनिया का जो बहुत बड़ा व्यापारी एक आगे है एक वक्त जो है वो तजारत तिजारत खत्म हो जाएगी वो भी खत्म हो जाएगा उसकी जो जमीन है और वो भी खत्म हो जाएगी और इंसान जो जमीन को जो है और उस पर जो फखर करने वाला था वो इंसान जो खत्म हो जाएगा अल्लाह दुख कर दिला दो दस का ये अल्लाह ने खबर दी और जमीन को अल्लाह तबार मतला तोड़ फोड़ करके एक वक्त आएगा खत्म कर देगा जबकि इस मकसद के लिए अल्लाह ने इंसान को बनाया था ये सूरज चांद सितारे सारे निजाम चलाया था जब अल्लाह रबुल्जत को कोई एक शख्स भी याद करने वाला नहीं होगा और अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं होगा तो अल्लाह फरमाते हैं कि मेरा मकसद ये था कि मुझे पहचान से जिंदगी गुजारे अब तो गफरत में पड़ गए जहालत में पड़ गए दलालत में और गुमराही में पड़ गए अल्लाह को भूलकर जिंदगी गुजारने लगे और खाइशात वाली जिंदगी गुजारने लगे तो मतलब दो बुजुर्गो फिर अल्लाह तबारक बताला इन आसमान और जमीन को तोड़ फोड़ कर खत्म फरमा दे तो कुरान अल्लाह ने इस बात से खबर दी है ये आसमान और ये जमीने तो ये सितारे और ये पहाड़ ये बंदा आएगा विधानसभा में पटाना जो है सबको जो है रेस नाबूद कर देंगे वह तो कुल दीवार कर देंगे मजबूत ये पहाड़ी हूर की गालू के तरह हो रहे और आसमानों को अल्लाह तबारक बताला जो लपेट लेंगे जैसे कि तुम गद्दारी के कागजात को लपेट लेते हो इसी तरह सातों आसमानों को ला सवार पता लपेट लेंगे जो मनो तुम क्षमा पता ये चीजें ये कुतुब فما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين फिर यह इंसान को दोबारा जिंदा किया जाएगा और उसे जिंदगी का हिसाब लिया जाएगा पूछा जाएगा हमने जिस मकसद के लिए तुमको पैदा किया था हमारी इबादत के लिए हमारी इताद के लिए हर नबी ने ये दावत दी या कहो मुसलमान तुम अल्लाह के बंदे बन जिंदगी गुजारना हमारे आका ताजदार मदीना फखर तो आलम रहमतमी आतम नबी हजरत मोहम्मद वसल्लम ये हरेक के पास पर जा जाकर इसी बात की दावत देते थे या लोगों इस कलमे पर यकीन कर लो कि करने करने वाली जात अल्लाह रबुल्जत है इबादत के काबिल सिर्फ अल्लाह की जात है सच्चा करने के काबिल सिर्फ अल्लाह की जात है मदद मांगने के और हाजात तलब देने के काबिल सिर्फ अल्लाह रबुल इज्जत की रात है हाजिर हाजात सिर्फ अल्लाह रबुल इज्जत है और जो है हमारी मदद करने वाला सिर्फ अल्लाह रबुल इज्जत की रात है तो अल्लाह तुम्हारा बताला कि इताहत के साथ जिंदगी गुजारो ये ईमान रसुल्ला ने सहाबा को सिखाया और सहाबा ईमान सीखते थे आज चौधरी सजा का मुसलमान कहता है मैं तो जो है बाप दादा के जमाने से मुसलमान हूँ मुसलमान तो के घर में पैदा हो गया मुसलमान हो गया अपन दोस्तों बुजुर्गो ये ईमान जो है इसकी हकीकत मेहनत से हासिल होगी ये दावत की मेहनत यही ईमान की हकीकत को हासिल करने की मेहनत है कि मेहनत करके इस ईमान को दिलों की गहराई में होता है एक तो जबान के बोल है और एक दिल का यकीन है दुनिया में रहते रहते वसन दोनों गुरु को दिल का यकीन हासिल हो गया इस दावत के मेहनत के जरिए से सिर्फ अल्लाह की रात होने का यकीन दिलों को बिठाना है आपके कुछ जमाने में कुछ लोग आए और आपके पास में आके कहने लगे या रसूल्ला आबन ना हम ईमान ले आए तो अल्लाह तो जो है सुनने वाले हैं समीर है बदीर है तो मैंने अमित रतन के पास में आकर के लोग क्या बातें करते हैं आल आराम आमन्ना कुल कुल्लम दुख मिनो वला के कुल वसरमना तो अल्लाह ने तो फरमाया ये नबी जी इनसे कह दीजिए अभी तुम ईमान नहीं लाए जो कहो अभी हम इस्लाम में दाखिल हो रहे अभी तुमने ईमान की हकीकत को नहीं पहचाना ईमान क्या चीज है इतने साबित रहा मोहम्मद अनुज मेहनत सबसे पहले अपने ईमान की बनाने की मेहनत ये दावत की मेहनत ये अल्लाह के रास्ते में जाना चार महीने जाना किले में जाना मकान में मेहनत ये गश्त करना ये ताली में करना इन सब का मकसद एक ही मकसद है कि हमारा दिल का रूख मखलूक से हटकर खाली की तरफ हो जाए ये करने करने वाली बात सिर्फ अल्लाह रबुल इज्जत है अल्लाह बड़े हैं बाकी सारी चीजें छोटी हैं अल्लाह अकबर अल्लाह के साथ पड़ी रसोल्ला के सर पर अल्लाह के फरमाया ये मुस्तर से उम फान से वरत पता फकत से एक हमले ओढ़ने वाले खड़े हो जाएंगे और डराइए अपने परोधिकार की बढ़ाई हुए अल्लाह बड़ा है अल्लाह के अलावा सारी चीजें मखलों को मोहताज होती दुनिया में जो बच्चा आता है तो रसोल्ला से तालीम है ये बच्चा अभी बच्चा नादान है लेकिन कान में एक कान में अजान पढ़ो दूसरे कान में कहा पढ़ो और इसी कान में तो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर चार अल्लाह की बड़ाई बयान करने के लिए कहा कि दुनिया की सारी चीजें चार अनासी से अल्लाह ने पैदा किए हाथ मिट्टी पानी हवा हर चीज से सारी चीजें छोटी है अल्लाह के साथ बड़ी बच्चा तो दुनिया में आया है दुनिया में बड़ी बड़ी चीजें तेरे सामने आएगी चीजें नजर आएगी लेकिन सारी चीजें छोटी है ये आसमान छोटा है जमीन छोटी है सूरज छोटा है चांद छोटा है दुनिया के सारे मखलूक छोटे हैं अल्लाह अकबर अल्लाह के साथ बढ़े हाँ? में आ जाए अल्लाह बड़े हैं मेरी दुकान छोटी है खाना हम्म। अल्लाह बड़े हैं अल्लाह का हुक्म बड़ा है जो आदमी जितना बड़ा होता है उसके हुक्म इतना पावर होता है कि उसको मिलकर ताकत होती है दुनिया के एतबार से इंसान देखे है कि पुलिस वाला है कि ऊपर वाला है उसके ऊपर का जो है गठिया वाला है और मिनिस्टर है और सदर है तो जितना बड़ा होता है उस एतबार से इंसान के हुक्म के अंदर पावर होता है तो अल्लाह रिजल्ट जो है उसकी जात बड़ी है अल्लाह तबारा बताला का हुक्म भी बड़ा है अल्लाह रिजल्ट मालिक मुल्क है और बादशाहों का बादशाह और सारे चीजें छोटी है ये दावत के मेहनत के जरिए से यकीन बना है मेरी दुकान छोटी है अल्लाह बड़े हैं अल्लाह का हुक्म बड़ा है मेरी तिजारत छोटी है अल्लाह पर अल्लाह बड़ा है अगर ये यकीन दिल में आया तो जब मुसलिम जब मुअस्सिस ये आवाज देगा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर तो मुसलमान बुजुर्गो ये ईमान वाला अपनी दुकान पर बैठेगा इसे उसका यकीन ये है कि अल्लाह बड़े मेरी दुकान छोटी है अल्लाह बड़े मेरी इजाजत छोटी है अल्लाह बड़े मेरे खेत छोटे हैं अल्लाह रबुल्जत बड़े दुनिया की सारी चीजें छोटी है वो छोटे को छोड़कर बड़े की तरफ मुतवजह हो जाए लेकिन आज हम देखते हैं हम जबान से तो कहते हैं अल्लाह अकबर लेकिन जो पांच वक्त मुहसिन अल्लाह को मुनाफिक पुकारता है ये अल्लाह का मुहसिन है ये अल्लाह का मुनाफी है ये आवाज अल्लाह की तरफ से लगाई जाती है ये दुनिया के बचने वाले इंसानों इस रस्ते में तुम जो रह रहे हो और जो चीजें तुम्हारे सामने है ये सारी चीजें ये मखलूक है मकदार है करने करने में नफा नुकसान में वो अल्लाह को बड़ा बड़े की तरफ आ गया बजट में जो है इस्लाम मुनाजिम का है शहर में अतर में मगरब में शाम में अब हम देखें ये नमाज है वो थर्मामीटर है हमारे दिल में किसकी बड़ाई अल्लाह की बड़ाई है या जीसू की बड़ाई अल्लाह की बड़ाई है हमारे अखबार की बड़ाई अगर अल्लाह के बुलाने की आवाज को सुनकर अगर हम दुनिया तजारत को छोड़कर अल्लाह के हुक्म को पूरा कर रहे हैं और पांचों अपने अहतमाम से नमाज पढ़ रहे हैं तो समझो कि हमारा ईमान ये हकीकत वाला ईमान है और अगर जो नमाज मुनाफे की आवाज सुनकर अजान सुनकर हम पांच वक्त नमाज नहीं पढ़ते हैं कदर की नमाज खुसूसन तो ये सुस्ती का वक्त है और जो सोते रहते हैं तो थर्मामीटर है हमारे ईमान में कितनी ताकत है इस दावत की मेहनत से है कहा जा रहा है ईमान में कितनी ताकत पैदा करना है इतनी कुवत जो पैदा करना है अल्लाह के साथ होने का यकीन अल्लाह रबुल्जत के हुक्म के पूरा करने में ही कामयाबी है और अल्लाह रबुल्जत के हुक्म के तोड़ने में ये नाकामी है दुनिया में कबर में अतर में आखिर की जिंदगी में अल्लाह के हुक्म को पूरा करने वाला हजरत मोहम्मद रसोल्ला सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक वो कामयाब हो जाएगा हर मंजिल में कामयाब होता चला जाएगा और बजट में अगर सोते रहे अल्लाह सुना भी कह रहा है सलाह तो खैर मिनन ना हो नमाज दिन से बेहतर है नमाज दिन से बेहतर है अब उस पर दोस्त लोगों अगर ईमान में ताकत होगी फौरन बिस्तर छूट जाएगा और अल्लाह के हकों को पूरा करने के लिए चाहे कितनी नींद खाली हो और कितना थका मानदा क्यों ना हो लेकिन उसने अपनी नींद को कुर्बान कर देगा अल्लाह तबार पताला के हुक्म को बजा लाएगा दिल का यकीन है अल्लाह बढ़े अल्लाह का हुक्म बढ़ा है मैंने अल्लाह को बड़ा माना है अब इतनी हमारे अल्लाह की बड़ाई नहीं होती अगर अल्लाह की बड़ाई नहीं उतरते तो मतलब दो सब को एक वक्त की नमाज में हमारी जो है जाय ना हो अल्लाह की ताकत को नहीं पहचाना अल्लाह के कुदरत को नहीं पहचाना अल्लाह के खजाने को नहीं पहचाना ये सारी चीजें अल्लाह ही के खजाने से आती है कोई मिलता ही लाइन गला खजाई विराट को फरमाते जो कुछ है मेरे खजाने से ये नफा नुकसान मेरे खजाने से तुम्हारे खेत में अनाज है मेरे खजाने से ये अल्लाह तुम्हारा मसाला के हुक्म के काबिल है छोटा बच्चा जो होता है उसके सामने एक आदमी पिस्तौल लेके खड़ा हो जाए वो ऑफिसर की जो पिस्तौल से वो खेलना शुरू कर देगा इसलिए उसने पिस्तौल के ताकत को नहीं पहचाना शरारत करता है माँ दूर तक कोई समाचार दिखाती है तो फौरन सहम जाता है पिस्टोल के ताकत को नहीं समझता माँ की जो है एक जो है जापान को जो है उसकी ताकत को समझता तो ऐसे मतलब दो बुजुर्गो हम छोटे बच्चों की तरह है अल्लाह के ताकत को हमको नहीं कहता अल्लाह के कोवत को नहीं पहचाना कि अल्लाह सुबह कितनी बड़ी जबरदस्त कुत ताकत वाला है ये मखलूक जो उसको अल्लाह ने की ताकत वाली बनाई है लेकिन जुब्रैल अली कराम कराम के बारे में मैंने कहा वो मखलूक है मोहताज है इसराइल कराम कराम मखलूक है मोहताज है इसराइल कराम कराम की ताकत अल्लाह सुबह ने तो को ताकत दी है दुनिया में जितने इंसान है सबसे रोहित कब्जा करते हैं और सारी दुनिया मशरक मगरब शिमाल जुनूब अमरीका अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया ये सारी दुनिया उनके सामने एक रकाबे की तरह है और इसमें बचने वाले इंसान उस रकाबे में चंदाने रखे उसकी तरह है रकाबे में चंदाने रखे हो उसमें जो पड़ी को बिठाया जाए और मुर्गी जो इस तरह आसानी से उस दाने को चुग लेती है ऐसे ही इजरा जैसा को शराब इंसान के रूह को कब्ज कर लेता अल्लाह ने ताकत एक दफा सलमान अली सलाम के पास एक शख्स बैठे हुए थे तो सलमान अली सलाम के पास में इसराइल सलाम तकलीफ लाए घूर घूर कर देखने लगे तो वो घबरा गया तो सलमान तो सलाम को सल्लाह ने वो हवाई का से तो दिया था कहा से मुझे खुला जगह ले जाओ तो यहाँ से बहुत दूर है सुलमान तो सलाम ने हवाई कब्ज को तो कम दिया उसको सवाल किया और हजारों किलोमीटर दूर जो है वहां पर उसको पहुंचा दिया और हो सकता तो वहां पर पहुंचा पहुंचते ही फिर इसराइल तो सलाम हाजिर हो गए फिर रूप कब्जा कर लिया दूसरी दफा इसराइल को सलाम सलमान के सलाम के पास में आए सलमान तो इस्लाम ने कहा क्या बात की खुला शख्स को तो आप घूर घूर के देख रहे थे तो इसराइल का तो सलाम ने कहा कि मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया था उसके रूह के कब्जा करने का और खुला जगह कब्जा करने का इसलिए कि इंसान की मौत की जगह भी मुतयन है और वो जगह यहाँ से जो है बहुत दूर है हजारों किलोमीटर दूर है और अल्लाह का अम्र जो है गलत नहीं हो सकता इसलिए कि हर चीज का अल्लाह रबुल्जत का हुक्म जो है उसका वक्त मुतयन है लाए लाए इराजा ला होता है एक साथ एक घड़ी हो सकती है पीछे हो सकती है और एक शख्स यहाँ बैठा हुआ है और जिस जगह पर उसकी रूह को कब्ज करने का मुझे हुक्म है वो जगह यहाँ से बहुत दूर है तो फरमाया इसलिए मैं उसको घूर घूर के देख रहा था लेकिन तुमने हवाई दफ्तर को हुक्म दिया और उसी आम के अंदर हवाई दफ्तर ने वहां पर पहुंचा दिया जो उसका वक्त मुताया था मौत का और मैंने उसकी रूह को कब्ज कर लिया ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की भविष्य की ताकत है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस भविष्य को बनाने वाला उसकी ताकत कितनी जबरदस्त है इजराइल इकराम सलाम तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो बनाया जब से बनाया है इसराफिल इकराम सलाम इसके मुंह में सूर है और उस सूर को अपने मुंह में लगाए हुए अपने सर को झुकाए हुए इंतजार में है कब अल्लाह रबुल्जत का हुक्म आए और मैं जोर फूक दूँ और सारी जो आसमान और जमीन जो है खत्म हो जाए आसमान जमीन तो माना पूरे सूर फूकेंगे फिर जो है सारी इस्लाम प्रजा दोबारा जिंदा कर गई खत्म हो जाने को अभी नहीं मर गए मिट्टी हो गए आप हो गए रात हो गए कोई हिसाब किताब नहीं अगर ऐसा हुआ तो जो है ये तो नाइंसाफ नहीं होगा कि दुनिया में एक इंसान अयाशी के साथ जिंदगी गुजार रहा है अल्लाह के हकाम को तोड़कर जिंदगी गुजार रहा है न नमाज की परवाह है न रोजे की परवाह है अल्लाह ने माल दिया है उसका हक अदा करने की परवाह है अल्लाह ने जकत अदा करने का हुक्म दिया है अल्लाह ने माल दिया है फर्ज फरमाया है लेकिन वो आदमी अपने ख्वाहिशात वाली जिंदगी गुजारता है अपनी मनमानी जिंदगी गुजारता है और अपने दुनिया के रस्म रिवाजात के अतबार से जिंदगी गुजारता है अयातिया करता है शादी ब्याह में अल्लाह के हुक्म से परवाह नहीं करता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी करने के लिए कौन सा तरीका बताया इसलिए हमारे आका मोहम्मद रसुल्लाम ने हर चीज का करने का तरीका बताया और इंसान जो है आप तरीके के मुताबिक अगर वो अमल को तो करेगा तो उसके लिए दिन बन जाएगा अल्लाह ने इंसान को जो है तकाजे उसके अंदर रखते हैं उसको शादी ब्याह की जरूरत है उसको मकान की जरूरत है उसको खाने पीने की जरूरत है सब लोग तो बुजुर्गों दुनिया को अल्लाह ने दारुल असबाब बनाया असबाब का इंकार नहीं है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह का कुरान नहीं है रसूल इस्लाम इस्लाम में मदद बना नहीं है कि इंसान जो है दुनिया से दुनिया को छोड़कर कारोबार को छोड़कर इन सारी चीजों को छोड़कर जंगल में चला जाए अल्लाह अल्लाह करे कोई कमाल की बात नहीं कमाल की बात यह है कि इंसान अफवाह में रहते हुए अपने दुकान में रहते हुए अपनी तजारत में रहते हुए अपने मुलाजमत में रहते हुए डॉक्टर अपने डॉक्टरी में वकील अपनी वकालत में हाकिम अपनी हुकूमत में वजीर अपनी वजारत में ये सारे अफवाह में रहते हुए मतलब दोस्त अल्लाह का हुक्म और रसूलुल्लाह वसल्लम का तरीका इसके मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले बन गए हमने इलाही और से रसूल किसी का नाम दीन है किसी का नाम इस्लाम है किसी का नाम ईमान है कि हम आज़ाद नहीं है हम अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं हम अपने नफ्स के गुलाम नहीं है हम अल्लाह के गुलाम हैं अल्लाह के गुलाम है तो मतलब दोस्तों बुजुर्गो हमने अपनी मनमानी जिंदगी नहीं गुजारेंगे ख्वाहिशात वाली जिंदगी नहीं गुजारेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ताइसा दीनार व दिरहम वल खतीफा व सिक्का कि जहम और दिनार का बंदा हलाक हो जाए उसके पैसे का बंदा हलाक हो जाए चीजों का बंदा हलाक हो जाए इस चीजों की वजह से उसके पैसे की वजह से दुकान की वजह से कि अल्लाह के हुक्म को रसुल्ला के करीबे को छोड़ता है ईमान वाला तो जो है कि अपनी इजारत में हर चीज में अल्लाह के हुक्म को देखेगा वो आजाद नहीं है कि जो चाहे जिस तरह चाहे जिंदगी गुजारे सलमान कहते उसे को अल्लाह के हुक्म के सामने गर्दन झुका देने वाला तबीयत चाहे तबीयत न चाहे जी चाहे जी न चाहे नफा नजर आए नुकसान नजर आए सूद में नफा नजर आता है तो मतलब लोग को तबीयत उसकी तरफ चलती है लेकिन अल्लाह का हुक्म है यम हकुल्लाह रिबा वही भी सदका अल्लाह सूद को मिटाते हैं सत्कार को बढ़ाते हैं हमारे आंखें तो ये कहती है कि सूद से माल भरता है तो सत्ता से माल फटता है लेकिन अल्लाह रबुल्जत उसका रसूल से फरमाते हैं कि अल्लाह तुम्हारा का सूद को मिटाते हैं और सत्ता को बढ़ाते हैं अब हम जो है चीजों पर जाहिर पर यकीन नहीं करेंगे हमारे अकल रसोल्ला वसल्लम ने जो बात बताई है जो तरीका बताया है हम किसी पर अमल करेंगे हमारे समझ में आए हमारे समझ में ना आए हमें नफा नजर आए हमें नुकसान नजर आए हमारे आकाश है देखने वाले और दुनिया में जितने इंसान है सारे अंधे हैं चाहे आसमानों में हवाओं में फिजाओं में उड़ने वाले हों चाहे जमीन के तह में जो है ये समंदर के तह में जो है चलने वाले हों फिरने वाले हों लेकिन आखिरत के एतबार से अंधे हैं मरने के बाद क्या होगा फरमाया उसके एतबार से नाबीना है इंसान तो बहुत कमजोर है इंसान को बनाने वाला अल्लाह खुद फरमाता है खुद का इंसान दारीफा इंसान कमजोर पैदा किया गया एक सिर से देखता है बाकी तीन से जगह उजल होती है आगे भी देखता है वो भी एक हद तक एक सकता है इसके बाद में क्या होगा उसको पता नहीं इतना कमजोर है देखने के अतबार से कमजोर सुनने के अतबार से कमजोर अगर चल आज हाथ में बात करने लगे सबसे बात सुन नहीं सकता और समझने के अतबार से कमजोर है अतबार से जो इंसान अल्लाह रबुल्जत जो खालिद इंसान है वो खुद फरमाता है इंसान को हमने कमजोर पैदा किया अब वो अपना नफा नुकसान कैसे समझ सकेगा इस बात को समझाने के लिए अल्लाह ने नबियों को भेजा नबियों को अल्लाह तबारक मतला ने आखिरत की सारी चीजें बताई और नबियों को अल्लाह ने वो अकल दी हमारे आजम को अल्लाह तबारक मतला ने जब अकल बनाई तो अकल के दो हिस्से किए निन्यानवे हिस्से हमारे अकल महमूद का और अकल का एक हिस्सा सारी दुनिया में आने वाले इंसानों को अल्लाह ने किया तो फरमाया कि आप ने जो नफा जिस चीज में बताया चाहे हमारे अकल में आए हमारी अकल में हमारी अकल ही क्या चीज है हम क्या समझ सकते हैं क्या सोच सकते हैं हम कमजोर हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि तरीके में जो करने के लिए बताया उसको हमें करना है और जिस चीज से बना क्या है उसे हमें रुकना है माता को रसूल फखुद हो हमारा नाम तुम्हारा फन का हूँ रसूलुल्लाह जो सुन रहे थे उसको ले लो चाहे तुम्हारा जी चाहे तुम्हारा जी न चाहे जकात अदा करने का अल्लाह ने हुक्म दिया माल भी तो अल्लाह ही ने दिया है जैसे जान का मालिक अल्लाह है माल का मालिक भी अल्लाह है पूरी अल्लाह ने फरमाया कि नाम खत्म ना बैठा हूँ मारी देता हूँ फिर हयात दुनिया हमने तुम्हारी रोटियाँ तब्दील की है उसको अल्लाह ने कहा मालदार बनाया उसको अल्लाह ने कहा गरीब बनाया फिर अल्लाह वहाँ तला की तरफ से और ये यकीन करना कि मैं अपनी तस्वीर का मालदार हुआ हूँ ये फरमाया कानूनी ये कानूनी नहीं है ये यकीन हारून ने उसका जो है ये जहन था ये तारा को मैंने अपने उद्याने से कमाया उतारे जब खुदराम ने कहा अल्लाह ने तुझे माल दिया अल्लाह के बंदू पर एहसान किया जिस तरह अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया दूसरे कहा इंदमा उसी को तो अल्लाह रहन दी ये तो अपने होशियारी से मैंने कमाया बात उसको समझ में नहीं आई उतारे जब खुदराम समझाते रहे लेकिन वो हिसाब करता रहा अल्लाह तो बड़ी कुत वाला है बड़े कुदरत वाला है तो उसने नहीं माना हम सारे कलाम की तोहरीन उसने की रबी की तोहरीन की रबी की मुखालफत की रबी की मुखालफत करने वाला कभी भी कामयाब नहीं होगा चाहे माल के ढेर में क्यों ना हो चाहे हुकूमत का माल ही क्यों ना हो ये सारी बातें अल्लाह ने बयान किए इतना बड़ा इतना मालदार आदमी था उसके खजाने की टांगे को उठाने के लिए भारी जमात की पहलवानों की जरूरत पड़ती थी एक पहलवान की जमात को सिलसिले तो खजाने की टांगे को उठाते थे खजाना कितना ज्यादा होगा लेकिन अल्लाह के बाप का इंकार किया नबी के बाप का इंतजार किया अल्लाह ने जमीन को कम किया जमीन ने जो है सारून को उसके माल के समेत जमीन में धसा दिया और ना भी और विदा ही हमारे खाना गवर्नमेंट मिनट कहते हैं कोरोना मिनटों निकला हम आता है मुंतरी और जो है जो लोग इतना उसको देख के तमन्ना करते थे कि काश के लोग कानून जैसे होते हमारे पास में ऐसा माल होता वो सारे के सारे अपने आंखों पर मैंने देख लिया हारून का माल मुझे कोई नफा नहीं दिया और माल के साथ जमीन उसको दफा दिया उसने अल्लाह को बुला दिया अल्लाह के नबी की बात को ठहरा दिया अल्लाह तबारक पता नहीं जमीन को बड़ा इलाज हुक्म दिया उसको निकल गया निकल रही है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ने फरमाया और ये कयामत तक इस जमीन में दसता रहे उसके माल को रखाने तो लोग बुजुर्गो माल को अल्लाह तबारक ताला ने और हुकूमत अल्लाह तबारक ताला ने अपने नबियों को भी दी है अपने वलियों को भी दी है सलाम पूरी अल्लाह रसूल इज्जत ने जो हुकूमत दी थी ऐसी तो हुकूमत किसी को अल्लाह ने नहीं दी लेकिन अल्लाह तबारक ने कामयाब किया नमरूद को अल्लाह ने हुकूमत दी थी लेकिन नाकाम किया वजीर जो हमान था वो चूंकि नबी का नाफरमान था अल्लाह ने नाकाम किया दूसरे यूसुफ अली सलाम वजीर थे अल्लाह के नबी थे अल्लाह ने कामयाब किया इन चीजों का होना ना होना ये कामयाबी की निशानी नहीं है माल जो है हारून के पास था नदी की मुखालफत की अल्लाह ने नाकाम किया माल जो है अब्दुलरहमान बिन औफ रजी अल्लाह के पास था अब्दुल्ला बिन जुबेर अब्दुल्ला बिन तलहा ये साहब किराम रोल्ला खानों की मारी उनमें दोनों किस्म के कब्जे थे अमीर भी थे गरीब भी थे मालदार भी थे और ऐसे मालदार थे कि चाहे आज के जमाने में मालदार अब्दुल्ला ने तनहा रजी अल्लाह का जब इंतकाल हुआ तो उनका वर्षा निकला तो उस जमाने के तीन करोड़ जो है ये अचरफी क्या इकट्ठे में तोड़े और अब्दुल्ला ने तनहा रजी अल्लाह चार या पांच करोड़ जो है इकट्ठे में जो है वर्षा में तोड़े इतना अल्लाह ने माल दिया अब्दुलरहमान बिन औफ रजी अल्लाह को इतना अल्लाह ने माल दिया था एक दफा जो मदीना मुनवरा में उनका जो है तिजारत का काफिला जब आया तो मुख्तर दोस्तों बुजुर्गो किसी ने हमें आशा रजी अल्लाह के पास में जाकर कहा जो रहमान का तजारत का काफिला आया है और इतना बड़ा काफिला है कि जिसकी वजह से जो है ट्रैफिक जाम हो गई आचार्य फरमा रहमान को जाके कहो अल्लाह ने मालूम दिया है अल्लाह के मंदिर पर खर्च करो सहाबी थे अब्दुलरहमान औफ रजी अल्लाह तआला अशरे मुबशरा में थे और दस सहाबा जिनको अल्लाह ने अल्लाह के हुक्म रसूल में दुनिया में जन्नत की बशारत दी तो फरमाया कि जितना माल है सब अल्लाह के बंदों पर जो सकता है सिर्फ नफा नहीं वो यकीन था अल्लाह के साथ पर सब अल्लाह के बंदों पर जो है खर्च करें अब्दुलरहमान औफ रजी अल्लाह तआला इतना माल होने के बावजूद अल्लाह के दिन की मेहनत के लिए रुकावट नहीं होता था वो सहाबी अब्दुलरहमान इतना हो रजी अल्लाह तरण इतने बड़े सहाबी है लेकिन आप सलम के साथ में सारे गजबात में चले गए कोई एक भी जो जमात आप सलम जो जमात में तकलीफ ले गए वो किसी जमात में जो किसी नहीं रहे उनका माल अल्लाह के दिन के मेहनत की रुकावट नहीं बना ये इस्तेमाल अल्लाह के दिन के फरोग के लिए तो इस्तेमाल हुआ अल्लाह का दिन जिंदा हो जाए इंसान की जिंदगी में अल्लाह तबारक का दिन दाखिल हो जाए ताकि इंसानियत हमेशा के जहनम से बचकर हमेशा के जन्नत में दाखिल हो जाए ये साहब कराम अल्लाह अल्लाह ने माल दिया था उस माल को अल्लाह तबारक पता के दिन पर खर्च करने वाले थे अल्लाह के बंदों पर खर्च करने वाले थे गरीबों पर यतीमों पर मिसकिनों पर बीमारों पर जरूरतमंदों पर मकाजों पर बीमारों पर अपने माल को खर्च करते थे कि अल्लाह का दिया हुआ माल है हमें अल्लाह के हुकूक को भी अदा करना है अल्लाह के बंदों के हुकूक को भी हमें अदा करना है अपने ख्वाहिशात पर खर्च करने वाले नहीं थे एक साहब आए आपके सर के पास में गरीब थे लेकिन साहबा में दोनों किस्म का तबका था गरीब था तो जो ऐसे गरीब थे शायद आज के जमाने में जो तो गरीब हो ये जब इंतकाल हुआ तो कफन के लिए कपड़ा नहीं ऐसे आज है तो ऐसा पते जिसके पास है कफन के लिए कपड़ा ना वो कहा भी अरे हमजा रजी अल्लाह रसूलुल्लाह के हाथे की जगह और आप से बड़ी मोहब्बत थी इमाम में दाखिल नहीं हुए थे उस वक्त से आपके से बड़ी मोहब्बत थी शिकार के लिए गए शिकार करके आए किसी ने कहा कबू जहल ने तुम्हारे भतीजे को सताया है आते फौरन वो अबू जहाल को ढूंढने खराब करने लगे और जब वो जहां उसको देखा फौरन एक तमाचा मारा और तो कहा मेरे भतीजे को तो तू सताता है इतनी मोहब्बत है आप अल्लाह ईमान में दाखिल हुए तो अल्लाह के दीन के लिए जो है कुर्बानी दी जैसे धावा समझते थे हमारा जिंदगी का मकसद अल्लाह के दीन अल्लाह के बंधु तक पहुंचाना है तो सहाबा किराम तो आजमैन के रसुल्ला ने इस मकसद पर खड़ा किया था दीन की दावत पर खड़ा किया था क्योंकि आपने तो आखिरी नबी है खातुम नबी है आपके पास कोई नबी आने वाला नहीं है आप सल्लम तो हजरतुल विदा में तकरीबन सवा लाख का मजमा था और आप सल्लम खुतबा दिया और खुतबा में आप फरमाया ये देखो मैं आखिरी नबी मेरे पास कोई नबी नहीं ला नबी के बाद में बना उम्र का आप को मैं आखिरी नबी हूँ अब कोई नबी नहीं आएगा पहले अल्लाह तबारक ताला और में जब बिगाड़ आता था अल्लाह नबी भेजते थे नबी आकर समझाते थे और कौम जो है समझ जाती थी जो नबी की बात को मानती थी अल्लाह उसको समझाते थे जो नबी की बात को ठुकराती थी अल्लाह उसको तबाह बर्बाद कर देते थे ये सारी बातें अल्लाह कुरान में बयान किए कौम हाथ कौम समूह कौम सोहेब नबी की बात को माना अल्लाह ने करताया नबी की बात को नहीं माना अल्लाह तबारक बताना या तो हवाओं के जरिए से जो है उन्हें तबाह किया अल्लाह तबारक बताना ऐसे हवा का तूफान भेजा कि जो है ये कौम आज सात रात और आठ दिन सब आयाल बदमानी का यहाँ जो हवा के जरिए से उनकी भेजे गए पहाड़ों को टकरा टकरा कर उनके भेजे अल्लाह तबारक वाली निकाल दी और उसकी लाशें ऐसी गिरी हुई थी कि जैसे खजूर के तने गिरे हुए ओम जो इसकी जबरदस्त फॉर्म थी हमारे चालीस दस जो है लंबी थी अल्लाह ने इतना ताकतवर बनाया था हमें और खजूर के जो और दरख्तों को जो अपने हाथों से पकड़ पकड़ उभार कर फेंक देते थे नबी तो कहते थे अल्लाह की ताकत को पहचानो हाँ, तुम तो मखनों को महताज हो लेकिन ताकत का समझना अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया वो अल्लाह तुमसे ज्यादा ताकतवर हवा को अल्लाह ने भेजा सात रात और आठ दिन मुसलसल हवा का तूफान आया इस तूफान के जरिए से अल्लाह तबारक उनकी लाशें ऐसी गिराई जैसे खजूर के तने पड़े होते ऐसी सारी कौमें न मानने वालों कहा सारा वाक्य अल्लाह ने सबसे सुनाए मतलब आप आखिरी नबी है यानी कोई नबी नहीं आएगा तो तुम यकीन नहीं हो तो मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह अल्लाह का कलाम है और जो रसूलुल्लाह के हदीसें हैं तुम उसको मजबूत कैसे थाम लोगे हर मंजिल में कामयाब होते चले जाओ ये अल्लाह का कलाम हमारे सामने है किताब ला रही हो बकरी अलहमदिल्ला अल्लाह का एहसान है कि कुरान को पढ़ने पढ़ने पढ़ाने का अल्लाह तबार मतला ने से का मकासद का सिलसिला जारी फरमाया बच्चे जो बच्चे में हम अपने बच्चों को भेजते हैं ताकि कुरान को समझे समझाएं हदीस को समझे समझाएं और अल्लाह के दिन की दावत दें और अल्लाह के बेकरम बंदों में जाकर जो दीन की मेहनत करें जो बंदे अल्लाह से गाफिल हैं और मरने के बाद क्या हालात आने वाले हैं उससे जो है जाहिल है या गाफिल है तो उनके पास तो जा जाकर मोहब्बत से शफकत से उन्हें अल्लाह के दीन की तरफ अल्लाह के रसूलुल्लाह के सुन्नत तरीके की तो तरफ जो उन्हें दावत है हमारे जैसा तो चार महीने के लिए दावत है किताब महीने इसीलिए जो अल्लाह के रास्ते में जो जो है मतलब दोस्तों बिल्कुल निकलने के लिए जो कहा जाता है दूसरे गफलत का माहौल है और जहाजत का माहौल है और हम आकर हमारे सामने के उजल है हम जन्नत को नहीं देख रहे हैं और जहनत को नहीं देख रहे हैं और उसका यकीन कमजोर है अल्लाह के हुक्म पर चलने में क्या इनाम मिलेगा उसका यकीन कमजोर है और अल्लाह के नाम पर स्वामी कहने पर क्या आजाब आएगा वसंत चंद्र को एक इसके अखबार से ये दीन अनुमान हमारा कमजोर है अल्लाह के रास्ते में निकलकर अपने जान माल को लेकर वसंत चंद्र को इस दीन की हकीकत को समझना है इस ईमान की हकीकत को समझना है ताकि हमारी जिंदगी में पूरा दीन आ जाए बीमारियात का दिन आ जाए विवादात का दिन आ जाए मामला का दिन आ जाए वाशरत का दिन आ जाए अखलाक का दिन आ जाए कि इस्लाम ईमान को फैलाए वो अखलाक से फैलाए हमारे अकाद मोहम्मद रसोल्ला सल्लल्लाहु के जो अखलाक थे वो अखलाक को देखकर इस्लाम के दुश्मन थे और जो है रसुल्ला के जो दुश्मन थे तो आपके दर्शन पर शाहिर मजनों और दीवाना कहते थे तो आपके दर्शन पर नाउजुबिल्ला जो छूटते थे लेकिन जब आपके दर्शन की बात उनके समझ में आ गई तो जब आपके दर्शन के वजू फरमाते थे तो वजू का पानी गिरने नहीं देते आप का जो आप मुबारक लेकर जो अपने बदन को बनते थे एक वक्त वो था कि जो है आपके मजाक करने वाले थे लेकिन अल्लाह के रास्ते में निकले और दिन की मेहनत की रसुल्ला को पहचाना कि आप रहमत आलमी है आपका तरीका सारे इंसानियत के लिए रहमत है आप नबी सारे इंसानों के लिए नबी बना के भेजे गए हैं आप आलमी इंसानों के लिए भी नबी है और देश है जानवरों के हैवाना के लिए नबी है हैवाना से जाते कि आप अल्लाह के सच्चे नबी आप एकदम सच्चे फरमा दे एक ऊँट आया और उसने अपने गर्दन आपके सामने झुका और उसकी आंखों से जो है आज जो है आंसू गिर रहे हाँ। आपने फरमाया कि ऊँट का मालिक कौन है उसको बुलाया था ये ऊँट तुम्हारी शिकायत करता है कि तुम उसको जो है काम ज्यादा लेते हो और उसको घास बना नहीं खिलाते हम्म। ऊँट में जानता है कि आप रहमत आदमी है हमने नहीं पहचाना था आप रहमत आप तशरीफ दे जा रहे थे रास्ते में इतिहासी से मुलाकात हुई इतिहास मिला आप कदम दाई नहीं अल्लाह थे और आप जैसे दाई है उम्र भी दाई आपने उम्र को दाई बनाया ये उम्र दावत देने वाली उम्र है आपने उसको दावत दी क्या तो खैर भलाई चाहता है तो उसे कहा क्या खैर भलाई है किसको तो आप दावत दे रहे हो मुझे तो अल्लाह का नबी मान अल्लाह एक है अल्लाह की वाहदानियत को तकलीफ कर दूसरे तो का कोई गवाह है अल्लाह एक है आप अल्लाह के नबी है अल्लाह के नबी होने की कोई गवाही अगर ये दरख्त उठो हाँ, पर एक दरख्त का वादी में तो अगर ये दरख्त गवाही दे कि आप अल्लाह के नबी है तो मैं आप पर मान लिया तो आपने फरमाया अगर एक गवाही देगा तो अल्लाह पर ईमान ले आएगा तो तेरे कहा मैं ईमान ले आऊंगा आपने दरख्त की इशारा किया वो तो दरख्त जो है जमीन को तीर चीरता फाड़ता हुआ आपके सामने खड़ा हो गया और दरख्त में से आवाज आई अशहद अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं दवाई कहता हूँ अल्लाह के अलावा कोई इबादत के काबिल नहीं और दवाई कहता हूँ आप अल्लाह के सच्चे रसूल और तीन दफा उस दरख्त में से आवाज आई और तीन दफा उसने गवाही तो ये ईमान लिया दरख्त ने जानता है कि आप रहमत आलमी है आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं बुजुर्गो इस पहाड़ पर कसर पर आप गुजर जाते थे पहाड़ में से आवाज आती थी असलम या रसूल अल्लाह पहाड़ में से आवाज आ रही है असलम या रसूल अल्लाह पहाड़ भी जानते हैं पत्थर भी जानते हैं लेकिन हमने अभी हमारे नबी को नहीं पहचाना हमारे आकाश मोहम्मद रसूल अल्लाह तो को जो है हैवानात से जानते हैं नबादात से जानते हैं हर एक जानता है लेकिन नहीं पहचाना तो हमने नहीं पहचाना इलावत के मेहनत के लिए है ताकि हम अल्लाह को पहचाने अल्लाह की ताकत को पहचाने अल्लाह को खजाने को पहचाने अल्लाह का हुक्म अल्लाह बड़ा अल्लाह का हुक्म बड़ा और जो हुक्म को पूरा करने के लिए तरीका हजरत मोहम्मद रसूल का तरीका है आप अपने तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो मसलन दोस्तों बुजुर्गो अल्लाह तबारक बताना दुनिया में भी किस हाल में हम रहे चाहे ईमानदार हो चाहे गरीब हो चाहे काश्तकार हो चाहे जो है हम तजारत करने वाले हो चाहे मर्द हो चाहे औरत हो और से ज्यादा करके अलहमद तो तो दुनिया छोटा बर्तन है आखिरत बड़ा बर्तन है छोटे बर्तन में बड़ा बर्तन नहीं आ सकता बड़े बर्तन में छोटा बर्तन आ जाएगा दुनिया बहुत खूबी है आखिरत बहुत बड़ी है हमारे अखाद महमूद रसोल्ला फरमाया तुम्हारी दुनिया की मिसाल आखिर की मिसाल ऐसी है जो मिसाल देकर हमारे लिए तो समझाया ये तुम्हारी दुनिया तो दुनिया की जो है सारी चीजें ये ऐसी है जैसे कि समंदर में उंगली डाल दी जाए उस तो उंगली पर जो पानी आता है वो कचरा ही तुम्हारी दुनिया है और आखिर आखिर मारता हुआ समंदर है इस आखिर की तैयारी की अल्लाह ने दुनिया में दे जाए दुनिया अपने को बड़ा खुले अल्लाह ने दुनिया तुम्हारे नफा के लिए बनाई है और तुमको अल्लाह ने दुनिया के लिए नहीं पैदा किया ये तो तुम्हारी जरूरतें पूरा करने के लिए अल्लाह ने दुनिया में तुम्हें भेजा है और दुनिया में जो है तुम्हें अल्लाह ने तुम्हारे लिए असबाब पैदा किए हैं लेकिन तुम्हारी जिंदगी का मकसद तो जो है आखिरत है पढ़ने के बाद की जिंदगी आखिरत की तैयारी अमर की तैयारी हजर की तैयारी अल्लाह के सामने खड़ा होना है जिंदगी का हिसाब देना है जैसे का वो जब तक इमाम गुरु का सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा तो तब तक आदमी का कदम हट नहीं सकता मैदान हजर होगा सूरज समान लेने से होगा हर इंसान हाथों को सलाम लेने कर कयामत के सारे इंसानों को अल्लाह तबार बताला इसी मैदान में जमा करवाई ये हमारा जो इज्तिमा है नहीं ये छोटा इज्तिमा है बड़ा इज्तिमा कयामत किसका इज्तिमा होगा अल्लाह को कमाते और यकीन है वो इज्तिमा का दिन आने वाला है अल्लाह सारे इंसानों को जमा करेंगे इज्तिमा होगा बड़ा इज्तिमा होगा आदम के आने वाले सारे इंसान को एक मैदान में अल्लाह अपने सामने खड़ा करवाएंगे को आला हक आला रे हक क्या इज्तिमा का होना हक नहीं है ये जमा होना हक है अल्लाह ने विकास पैदा नहीं किया मरने के बाद दोबारा जिंदगी है और हिसाब देना है जो है मुश्किल इसको समझ में नहीं आता था वो इंकार करते थे कि कितने आखिर देखिए कितने जन्नत देखिए कितने जहन्नम देखिए जो दुनिया से गया कभी वापस नहीं आया आपने वाइल जो है विभूति से हड्डी लेकर आया और पुराने हड्डी को लेकर अपनी हथेली में मसला और खूब मार दी और जो है मजाक किया आपने सर्वता और कहीं मोहम्मद तुम कहते हो तो इसमें जो है दोबारा जो है इसको जिंदा किया जाएगा जान डाली जाएगी तो आप एकदम कोई बात अपनी तरफ से नहीं कहते थे आप एकदम तो खामोश रहे अल्लाह पर सुनते हैं मेरे बंदे के साथ में मेरे महबूब के साथ में क्या मामला किया जा रहा है अल्लाह ने फौरन सलाम को आए थे तो सारा अवलम अल्लाह फैदा हुआ खतरे को मूवी या इंसान जो है ये देश का नहीं है और हमसे झगड़ सकता है और उतारे लेके कहता है खुदा ने उसको पहली दफा जिला किया वो अल्लाह दोबारा उसको जिला करेगा पहली दफा किसी उसको के लिए मुश्किल होता है जब इंसान एक दफा बनाता है कहता है कि मेरा तजर्बा किया हुआ है मेरा अधूरा है मैं दोबारा उसको बना सकता हूँ अल्लाह के लिए अव्वल आखिर इब्तदा सब बराबर है वो अमल वाले दोबारा इंसान को जिंदा किया जाएगा और सूरज सवाल ऐसे से तो होगा और इंसान अल्लाह के सामने खड़े होंगे सारे के सारे इंसान मादर साहब जो है बगैर कपड़े के होंगे सारे मर्द सारे औरतें आयशा ने फरमाया क्या उस वक्त जो है एक दूसरे को लोग देखेंगे आपने फरमाया ऐसा जो मंजर होगा और ऐसा वहशतनाक होगा मंजर किसी को किसी की तरफ तकने को देखने की जो लवत नहीं आएगी और सूरज सवा लेने पे होगा और उसकी गर्मी की वजह से इंसान पति में डूबा हुआ होगा और गुप्तू तक वो कमर तक वो जो है उसके लगाम की तरह पसेगा उसके मुंह पर लगा हुआ होगा और पूरा जो फतेह में गर्व होगा और अल्लाह तबारक ताला हिसाब के लिए सबको जमा करवाएंगे और ऐसा मंजर होगा और ऐसी तकलीफ होगी कि सारे इंसान जो है परेशान हाल होंगे और जो पुकारेंगे रबी के पास में जाएंगे आजमल इस्लाम सलाम के पास में जाएंगे कहेंगे आप हमारे दादा हैं आजमल इस्लाम सलाम आप अल्लाह की सिफारिश कीजिए अल्लाह तबारा बताला जो है हमारी हमें नजात दे दे सजा के हमें नजात दे दे आजमल सलाम माजर कर लेंगे इसी तरीके से जो है इमरान सलाम के पास रू नू सलाम के पास सारे नबी के पास में जाएंगे सभी जो है उसका अल्लाह बड़े कलाम में होंगे किसी की हिम्मत नहीं होती अल्लाह के काबिल की सिफारिश है ये सारे के सारे इंसान अरे मोहम्मद रसोल्ला रसोल्लाम के साथ में जाएंगे तो रसम कर दिए सिफारिश की दरखास्त करेंगे हाँ आपने फरमाया हाँ हाँ मैं ही तुम्हारी सिफारिश करूँगा ताला ने आपको मकाम में महमूद रखा फरमाया और अल्लाह रबुल्जत के सामने आप सिफारिश करेंगे उम्र की सिफारिश करेंगे अल्लाह तबारा ताला उस तारीफ बयान करेंगे और ऐसी तारीफ करेंगे अल्लाह रबुल्जन आपकी जबान पर जो ऐसी तारीफ के अल्फाज जारी करवा देंगे ऐसे जुमले तो जो है मकम को फरमाया तो इंतहाई जो है बेहतरीन जुमले फिर अल्लाह तबाक से सिफारिश की दरखास्त करेंगे फिर अल्लाह रबुल्जन हिसाब किताब शुरू कर देंगे हिसाब किताब शुरू हो जाए जैसा अमाल होंगे उसके अखबार से मामला किया जाएगा अल्लाह रबुल्जत के अर्श के अलावा कोई साया नहीं होगा सिर्फ अल्लाह रबुल इज्जत का अर्श तक आया हो तो दोस्तों ये दिन आने वाले जन्नत हक है एक आमाल करने वाले इनके लिए अल्लाह तबारा जन्नत का फैसला फरमाएंगे तो अल्लाह रबुल्जत के हुक्म से पागल बनकर आजाद होकर गई अपने मन वाले जिंदगी गुजार कर गई आजाद वाली जिंदगी गुजार कर गई हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम बनकर जिंदगी गुजारी हमारे करने करे थे थोड़ा मुताबिक जितने जिंदगी गुजारी हर चीज में मामला में लेन देन में इजाजत में और इस तरह मुलाजमत में सच्चाई के साथ जिंदगी गुजारी तो मतलब दोस्त लोगों उसके लिए अल्लाह तबार फकरा जन्नत का फैसला फरमाएंगे और अल्लाह ईमान वाले के लिए जन्नत बनाई है ये ख्वाहिशात पूरा करने की दुनिया जगह नहीं है दुनिया में किसी की ख्वाहिश पूरी हुई है ना ख्वाहिश पूरी होगी ये ख्वाहिशात जो है ये छोटा बर्तन है ख्वाहिशात जो है ये ये अल्लाह ने बनाई है ये दुनिया छोटा बर्तन है किसी की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई वक्त दोस्तों बुजुर्ग को ख्वाहिश और अल्लाह तबार पकड़ आखिर को पूरी फरमाइए भला हाँ वहाँ तक चाहिए है कुतुकुम भला हाँ वहाँ तक जाऊर तुम दूर जाओगे अल्लाह तबार पकड़ा तुम जाता फरमाए ये जन्नत में अल्लाह का मेहमान खाना है जन्नत के एक एक छोटे की होगी एक एक शांति की होगी और जिसका मुझ ज्यादा मुझ लगा होगा और किसी मिट्टी जाफरान की होगी और जो है जिसपे दूध की नहरें शराब की नहरें साफ शफाफ पानी की नहरें और शहर की नहरें अल्लाह तबारक पटाला आता फरमाएंगे और अल्लाह तबारक वाली का दीदार नसीब होगा सबसे बड़ी नहमत जो अल्लाह का दीदार होगा वतन लोग लोगों तो जो जिसे आखिरत की तैयारी के अतबार से दीन पर अल्लाह के रास्ते में निकल कर दीन के मुजाहिदे बर्दाश्त किए होंगे उसी के मुजाहिदे के अतबार से अल्लाह तबार पताना का दीदार होगा तो यहाँ पे जो है ग्रेड या जन्नत में भी ग्रेड है अल्लाह ने जो है सबसे ऊंची जन्नत बनाई जन्नत को फिरदौस बनाई इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अगर तुम अल्लाह से मांगो तो जन्नत को फिरदौस मांगो सबसे ऊंची जन्नत है लेकिन सबसे ऊंची जन्नत लेने के लिए मसल रसूल को ऐसे तो मेहनत भी तो करनी होगी ऐसे मुजाहिदे भी करने होंगे ऐसे तो मुझे मशक्कत भी उठानी होगी चालू माल को तो अल्लाह तबार मतला के गुरु पाते विक्रम ने इसका इस्तेमाल करने के लिए कहा है तो तुम्हारा जिंदगी का मकसद ये है कि तुम अल्लाह के बंदों में तकलीफ कर अपने जान माल को लेकर जमात बन बन कर अल्लाह के रास्ते में निकलो और अल्लाह के बंदों को जाकर तो समझाओ आखिर समझाओ जन्नत बताओ जहन्नम बताओ मरने के बाद की जिंदगी हमेशा उसको बताओ यहाँ पर जो है हमेशा गमगीन रहते थे कि मेरी बात कोई रवि नहीं आएगा अब मेरी उम्र को कौन समझाए रवि दरअसल तो हरेक बात समझाते थे और समझाते थे आखिर समझाते थे अल्लाह की बड़ाई समझाते थे और आप रतन ऐसा रोते थे अपनी उम्र के लिए आपके चेहरे मुबारक से ऐसे रोने की आवाज आती थी ऐसे के हांडी के कपड़े के वक्त पानी के उबाल के जो आवाज आती है ऐसे हमारा आका शाह मदीना हजरत मोहम्मद रसुल्ला के तरफ अपनी उम्र के लिए इतना रोते थे पूरी पूरी रात अल्लाह के सामने खड़े होकर उम्मत के सामने रोते थे वक्त को तो रसूलुल्लाह आपने नबी आपने अपने दावत का काम उम्मत के हर फर्ज की जिम्मे किया है जैसे इबादत मेरी जिम्मे है ये तो इंसानियत का मकसद है लेकिन रसूलुल्लाह से उम्मत होने का मकसद कि अल्लाह तबारक ताला क्या ये दिन ये इंसानियत की जिंदगी में किस तरह आ जाए एक एक फर्ज तक जो है अल्लाह तबारक का दिन की तरफ पहुंच जाए हम अल्लाह के रास्ते में काबा की जमातें गणतंत्र कर निकली सवारी से निकली पैदल निकली उनके पास में जूते नहीं गई और पटने की जमीन थी तो मतलब बुजुर्गों पैरों के अंदर जख्म हो रहे हैं और पैरों में खून जो है बह रहा है और तीसरे बांध बांध कर अल्लाह के रास्ते में निकले उस गजबे का नाम है गजबे तो देखा है आगे के जो है खाने के नहीं है खजूर है थोड़े खजूर है एक एक खजूर ली जा रही है इस आगे दिन पूछे एक खजूर से क्या पेट भरता होगा फरमाया तो उसके कदर उसका प्रवेश एक खजूर भी नहीं उसने शुरू शुरू से हमने अल्लाह के कदमे को पहुंचाया है और अल्लाह तबार पता का ठीक काम किया है दरख्त के पत्ते चबा चबा कर तो खजरे के नाम है गजरे गजरे सजतुल खजरे सजरा ये दरख्त के पत्ते चबा चबा कर अल्लाह के दिन के काम को किया है पानी पीने के लिए गई है ऊँटों के जो है होदरे को निटूर कर जो है ये अल्लाह तबारक वाली के दिन का काम किया है हर हाल में अल्लाह तबारक वाली के जन्म को कलम करने के लिए ताकि अल्लाह तबारक वाली इंसानियत की जिंदगी में आ जाए और हाँ, इंसानियत हमेशा के जहनम से बचे बोलते हैं अगर जो गफलत के साथ मेरे गुजारे गुजर जाए और मलकुल मौत वहाँ पे खड़े हो जाएंगे हाँ फिर इंसान खूब का आंसू तो रोएगा पछताएगा और कहेगा रबे जरूर रबे जरूर तो रोजगार मुझे दो बार लौटा दे लेकिन उसमें कहा जाएगा मौका हाथ से निकल गया अल्लाह भैया से तुम तो नजीर को डराने वाला नहीं आया था कहीं कहा आया था लेकिन हम सुनी अनसुनी कर सुने लेकिन हमें उस पर अमल नहीं किया मतलब दो दोस्तों तो इसमें हिम्मत करके अपने नाम पेश करो कि अब तक हमारी जो जिंदगी गुजरी है हम अल्लाह से माफी मांगे कि अल्लाह तेरी रहमतें राज जो बारिश के खतरों के कारण पर तो बरसती रही और जो हम उसको खास हमने तेरी ना लापरवाही की अब हम जिंदगी से तोबा करते हैं और देश की बातें रहें उसके लिए मेहनत को अपने आप को लगाएंगे इसलिए छक्के को जाने के लिए कोई नहीं छक्के रखें इतने मतलब दोनों लोगों हमारा इज्मा का मकसद सिर्फ कहना सुनना नहीं है हमारा इज्मा का मकसद ये है कि हम पिछली जिंदगी से तोबा करके जिंदगी के जो दिन बाकी है वो दिन हमारे गफलत में न गुजरे वो दिन हमारे दिन की बन जाए और हम अल्लाह के दिन की मेहनत को लेकर अल्लाह के नाम से लिखे और ये अल्लाह के बंदों के पास को ज्यादा कर उन्हें दिन के बाद बताएं ताकि हमारी जिंदगी में तो अपनी जिंदगी आए और निकाले की अल्लाह के रास्ते में जाता लेकिन कौन नहीं जाना यही करो यही करने वालों को अल्लाह जिन्होंने पहले से नाम लिखा है वो तो है लेकिन